के संबंध में प्रयास करेंगे आप सभी सज्जन माताएं बड़ी सावधानी से कार्य का संपादन करें ईश्वर ने हमको ये शरीर दिया है हमारे कल्याण के लिए इस सृष्टि की रचना की है थोड़े से काल में मनुष्य जीवन बहुत थोड़ा है इसमें अपना मुख्य प्रयोजन मानव जीवन की सफलता को प्राप्त कर लेना चाहिए जीवन विकास में आए हैं जिस विद्या को आप सीखने आए हैं यह है बहुत सूक्ष्म विद्या है योग विद्या ब्रह्म विद्या ईश्वर को जानने की विद्या ये अत्यंत परिश्रम साध्य है करेंगे आप परिश्रम करेंगे आप अत्यंत सावधान रहेंगे आप नियमों का पालन करेंगे तो समझ में आएगी आप ध्यान दें यह मनुष्य शरीर कितना मूल्यवान है और इस बात पर भी ध्यान दें यह अनित्य है इसका ये पता नहीं है कि यह कल भी रहेगा या नहीं रहेगा जो व्यक्ति बुद्धिमान है इन सब बातों को जानता है वह जो ये जीवन का काल है अपना इसमें वही काम करता है जिससे से कि उसको सफलता मिले मनुष्य जीवन की सफलता जीवन की सफलता ईश्वर की प्राप्ति करने में है ईश्वर को जानने में है ईश्वर को पालने में है और मनुष्य जीवन की विफलता व्यर्थता यह ईश्वर के न जानने में है जो व्यक्ति मनुष्य जन्म पाकर के ईश्वर को नहीं जानता प्राप्त नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है बेकार है वह अपना और दूसरों का भला नहीं कर सकता इसलिए जानना है कि मनुष्य शरीर ईश्वर ने हमको दिया है हम सांसारिक कामों को करते हुए जो व्यक्ति जिस आश्रम में है उस आश्रम के नियमों का पालन करता हुआ कर्तव्य को करता हुआ व्यक्ति योगाभ्यास करता जाता है और अंत में अंतिम परिणाम ईश्वर को प्राप्त कर लेता है आज विश्व की अवस्था मनुष्य जाति की स्थिति जन समुदाय की गतिविधि इस लक्ष्य को भूल चुकी है ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य व्यक्ति का नहीं रह गया है ब्रह्मवेत्ता बनना कोई नहीं चाहता यदि कोई कहता है योग की बात करता है उसमें वो आडंबर को झूठ छल कपट को जोड़ लेता है आप अपने लौकिक जीवन को सांसारिक व्यवहार को अलग से रखिए और यहां आकर के इस विद्या को समझने का प्रयास करें मनुष्य जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति क्यों है इसका उत्तर है ईश्वर की प्राप्ति के बिना व्यक्ति की समस्त संपूर्ण कामनाएं इच्छाएं पूरी नहीं होती सब मनुष्य और पशु पक्षी भी समस्त दुखों से छूट करके नित्य आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं जितने भी हम काम करते हैं कोई भी व्यापार करते हैं व्यवसाय करते हैं उसका एक ही लक्ष्य होता है कि दुखों से छूटना और नित्य आनंद की प्राप्ति करना और कोई लक्ष्य नहीं होता विद्यार्थी पढ़ता है तो उसी के लिए गृहस्थ में व्यक्ति जाता है तो उसी के लिए बान प्रस्थ में आता है तो उसी के लिए सन्यासी बनता है तब भी उसी के लिए बस ये दोनों बातें उसके दिमाग में रहेंगी इनको कोई छोड़ के नहीं चल सकता पशु पक्षी भी नहीं छोड़ सकते इनको तो अर्थात समस्त दुखों से छूटना और नित्य आनंद की प्राप्ति करना ये लक्ष्य व्यक्ति का है और कोई लक्ष्य नहीं अब लक्ष्य तो यही है बना हुआ पर विश्व मानव जाति इसको भूल चुकी है अर्थात उल्टा लक्ष्य बना चुकी है विपरीत अपना उद्देश्य बना चुकी है वो क्या है संसार में जो भी पांच इंद्रियों के भोग हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच भोग इंद्रियों के हैं दुनिया में वो इन्हीं की प्राप्ति के लिए सब कुछ करता है आज इन्हीं की पूर्ति के लिए दिन रात वो लगा हुआ है इन्हीं की पूर्ति के लिए राजा बनता है इन्हीं की पूर्ति के लिए व्यवसाय करता है इन्हीं की पूर्ति के लिए गृहस्थ आश्रम में गया है इन्हीं की पूर्ति के लिए विद्यार्थी विद्या पढ़ता है इन्हीं की पूर्ति के लिए उपाधियां लेता है इन्हीं की पूर्ति के लिए एक भाई दूसरे भाई को मार करके भी आगे बढ़ना चाहता यहां तक पहुंच गई है दुनिया भाई को भाई जब तक चाहता है उसको धन संपत्ति में वो नुकसान नहीं देता नहीं समझते आप क्या है आज की स्थिति बन चुकी है पति पत्नी में भी स्थिति यहां खड़ी होती है पति पत्नी का मूल्य है तो धन और संपत्ति पर है मनुष्य का मूल्य कुछ नहीं रह गया है धन और भोग का मूल्य सर्व ऊपरी हो चुका है क्या आप ऐसा अनुभव करते हैं या नहीं करते बोलो जी समझ में आती है बात नहीं आ रही समझ में लाने के लिए प्रयास है न केवल उपदेश सुन लो और आपको अच्छा लगे उठ जाओ इससे कोई लाभ नहीं होगा या तो जीवन बदलने के लिए आए आप आपको सिखाना है प्रवचन देना मात्र नहीं है उपदेश देने में तो देते रहो घंटे तक सुनते रहो सामान्य प्रभाव हो जाएगा जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा जीवन में परिवर्तन लाने के लिए व्यक्ति को एडी से चौथी तक का जोर लगाना पड़ेगा आपको अपने विचारधाराएं बदलनी पड़ेंगी पूरी की पूरी तो ये जो आज स्थिति उत्पन्न कर दी गई है इसमें ईश्वर की आज्ञा वेदों का आदेश ऋषियों के ग्रंथ ऋषियों की परंपरा को ठुकरा दिया गया क्या समझे आप फिर से सुनो आज जो भूगोल में मनुष्य जाति ने ये चीज अपनाई है कि पांच इंद्रियों के भोग ही लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य नहीं है और धन संपत्ति ही सर्वोपरि है मनुष्य का कोई मूल्य नहीं है धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए चाहे जो कुछ करो सब अच्छे काम है किसी में बुराई नहीं है सभी नीचे से लेकर ऊपर तक साधारण रूप से दिमाग है ये मान्यताएं जो बनी है ये ऋषि ऋषियों के विरुद्ध दर्शनों के विरुद्ध उपनिषदों के विरुद्ध वेद के विरुद्ध ईश्वराज्ञा के विरुद्ध बनी हुई ये मान्यता है और इन मान्यताओं के कारण से आज आप सारे भूगोल में देख सकते हैं भयंकर गदर मचा हुआ ये आप नहीं मानते हैं राजधानी जैसी जगह में पांच मिनट में कौन किसको जला देता है मार देता है ये कोई विश्वास नहीं कर सकता दिन में रात्रि की बात छोड़ो कोई भी व्यक्ति किसी भी सज्जन को विद्वान को साधु को धर्मात्मा व्यक्ति को बिना कारण के या सीधा उसका धन लूटने के लिए चाहे जो मार सकता है और उसको ए, कोई दंड नहीं मिलेगा मारने वाले को वो छूट जाएगा बिल्कुल आपने देखा एक व्यक्ति वहां पहुंच गया है केवल जिसको चाहता है मारता है फिर वो पकड़ा जाता है पकड़ने के पश्चात उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है उसके दल वाले कहते हैं कि हमारे इस व्यक्ति को छोड़ो अन्यथा वो उनके व्यक्ति को उठा के ले जाते हैं आप ये रोज की घटना इस डाकू को अचारे को छोड़ दो अन्यथा तुम्हारा ये व्यक्ति हम खत्म कर देंगे ठीक है छोड़ देंगे ये स्थिति इसलिए आई है ये मैंने जो वर्णन किया ईश्वर को वेदों को दर्शनों को ऋषियों को उस राजनीति को वैदिक सच्ची राजनीति को ठुकरा दिया गया और आप इसको सीखने आए यदि आप परिश्रम करते हैं मेहनत करते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि हम इसको हटा नहीं सकते ये कभी मन नहीं बनाना चाहिए हम ये मानते हैं ईश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है वेदों के अनुसार चलना हमारा धर्म है ऋषियों के अनुसार चलना हमारा धर्म है उन्हीं पर चलेंगे हम और उन्हीं को दुनिया को चलाएंगे और इसमें जब तक जिएंगे तब तक यही काम करेंगे हमारा तनमन नहीं इसके लिए होगा इसके विरुद्ध कभी नहीं हो करेंगे हम हमको जन्म लेने पड़ेंगे जन्म तो होते ही आ रहे हैं अनाजिकाल से जन्म होते रहेंगे दुनिया तो चलती रहेगी ये नहीं रुकेगी कभी भी अनादिकाल से संसार चल रहा ये उत्पत्ति स्थिति परलय उत्पत्ति स्थिति परलय उत्पत्ति स्थिति परलय कभी शुरू नहीं हुआ पहले प्रलय था अब ये उत्पत्ति हो गई अब प्रलय हो जाएगा फिर उत्पत्ति हो जाएगी फिर प्रलय होगा ऐसा न तो इसका आदि है और न बच्चे समझते हो छोटी छोटी भी पंक्ति लग रही है आजकल तो <laughs> हम समझते हैं ये ध्यान देंगे तो ये भी सीखेंगे ये अनादिकाल से ये संसार चला आ रहा है ईश्वर के नियम है और अनंत काल तक चलता रहेगा हम क्या करें हम वही काम करेंगे जो ईश्वर चाहता है बस एक ही कीली है आधार है हमारा ईश्वर का जो आदेश है हम उस काम को करेंगे और जिसमें ईश्वर का निषेध है उसको नहीं करेंगे हम और इसमें ईश्वर हमारा सहायक रहेगा ऋषि हमारे सहायक है ऋषि आप विचारों को बदल दीजिए सोचने का ढंग बदल दीजिए यदि सोचने का ढंग आप नहीं बदल सकते तो आपके जीवन को कोई नहीं बदल सकता जितने विचार इकट्ठे कर रखे हैं आपने उनको एक और रख दो और ये सुनो यहां बैठ के थोड़ी देर इस संसार का बनाना चलाना बिगाड़ना कर्मों का फल देना ईश्वर के काम है संसार का कोई व्यक्ति इसको रोक नहीं सकता ईश्वर के न्याय में कोई बाधा नहीं डाल सकता संबंधी धन संपत्ति आपका कुछ नहीं करेगी जैसे कर्म किए आज तक ऐसी योनि में जाना पड़ेगा बताओ कोई छूट के आगे क्या हो तो लो ईश्वर की व्यवस्था तो भंग हो चुकी है और मैंने अपना धन जो पहले छोड़ा था मैंने फिर आगे व्यापार कर लिया है क्यों जी है कोई ऐसा व्यक्ति ईश्वर की व्यवस्था भंग हो चुकी है गया हूं वहां से छूट करके सारे काम किए थे जैसे आतंकवादी छूटते हैं और मैंने फिर अपने वो कारखाना जो कहते से मार दिया मेरे हाथ लग गया है आप बता दो कोई एक व्यक्ति आया हो तो आज इसलिए आप यहां कुछ सीखने आए सोचने आए हैं ऋषियों की पद्धति को जानने आए हैं और हमारा काम है परिश्रम करके आपको जना देना आप पूर्वक लगे रहिए जानिए और फिर जीवन में लाइए मोड़ आएगा आपके जीवन में मोड़ आएगा आप समाज में मोड़ दे देंगे समाज से राष्ट्र में मोड़ आ जाएगा और राष्ट्र से विश्व मोड़ता एक एक व्यक्ति विश्व की दिशा बदल देता है दुनिया तो मानव जीवन का लक्ष्य क्या है आप बोलिए क्या लक्ष्य है समस्त दुखों से छुट करके और नित्य आनंद को प्राप्त करना मानव जीवन का चरम अंतिम मुख्य लक्ष्य है ऐसा जानना चाहिए अब इसकी पूर्ति का साधन या है क्या चीज अर्थात ये लक्ष्य पूर्ति हो कैसे और लक्ष्य पूर्ति किससे होगी ये हो जान लीजिए ये योगाभ्यास के माध्यम से होगी अर्थात आगे बढ़ जाओ ज्ञान कर्म उपासना से व्यक्ति योगी बनेगा शुद्ध ज्ञान कर्म उपासना से व्यक्ति योगी बनेगा योगी बनकर के व्यक्ति ईश्वर का साक्षात्कार करेगा ईश्वर का साक्षात्कार करके समस्त दुखों से छुटके नित्यानंद को प्राप्त होगा इसकी प्रक्रिया पद्धति है ये चलेगा सदा यही था आज भी है आगे भी रहेगा मानना न मानना व्यक्ति उसमें स्वतंत्र है वो माने नहीं माने तो लक्ष्य को सामने रखिए और उसी के अनुसार सारी प्रक्रियाएं चलाइए मिलकर के मेरे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करें शिक्षा देता है सिखाता है कि गायत्री मंत्र से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना ऐसे करना बालक को आचार्य सिखाता है तो वो गुरु मंत्र नाम से प्रसिद्धि हो गई अब हम गायत्री मंत्र की कविता को बोलेंगे का प्रयत्न करेंगे कि हमें गायन के माध्यम से ईश्वर की उपासना भक्ति कैसे करते हैं ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना गा के करना वाणी से बोल के करना मानसिक रूप में ही करना ये अनेक प्रकार से की जाती है अब जो गायत्री मंत्र है भूर्भुव स्व इसको कविता में इसके भाव को कविता में बांधने का प्रयास किया जिससे कि साधारण व्यक्ति भी गायत्री मंत्र के अभिप्राय को जान लेवे और वो साधारण व्यक्ति भी ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना कविता के माध्यम से भी कर सकता है अब एक बार मैं बोलूंगा और फिर उसी के अनुरूप आप बोलेंगे अंतस्थिति में ईश्वर के साथ संबंध जोड़ने का प्रयास कीजिए अपने शरीर में कंठ में मस्तक में छाती में नाभि में अपना एक केंद्र स्थान बना लीजिए वहीं पर अपने आप को उपस्थित करके और ईश्वर के समक्ष उपस्थित होते हुए ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करने का अभ्यास करें तू के कष्ट हरता तू तेरा मा Devi बार मैं बोलूंगा पीछे आ भू भुआ स्व तत्सवितुर जान लेंगे तो जैसे कविता से प्रभावित होते हैं हम और ईश्वर के प्रति प्रेम आकर्षण उत्पन्न होता है उसी प्रकार से मंत्र के माध्यम से भी हम प्रभावित होते हैं मंत्र अपनी मातृभाषा जैसा बन जाता है अब आप योग की परिभाषा की ओर दृष्टिपात करें <clears throat> यह आपके सामने लिखा है योग चित्तवृत्ति निरोध जिसको जानने सीखने से अपने जीवन में लाने से व्यक्ति ईश्वर को पा लेता है वो क्या है योग की परिभाषा है एक ध्यान देने की बात है वर्तमान काल में भूगोल में लाखों करोड़ों लोग योग के नाम से कार्यकलाप से प्रभावित है देश और विदेश में योग का नाम प्रचलित आश्रमों का उद्घाटन संचालन साहित्य प्रकाशन प्रशिक्षण ये भूगोल में देश और विदेश में लाखों करोड़ों लोगों का विषय बन गया है अर्थात योग का नाम योग की बातें योग संबंधी साहित्य प्रकाशन योग संबंधी आश्रम योग संबंधी विद्यालय योग संबंधी गुरु परंपरा योग संबंधी ये चर्चाएं व्यवसाय बहुत व्यापक रूप से चले हुए अब जानने की बात यह है कि वस्तुतः योग है क्या चीज इनमें से किसी व्यक्ति को पता नहीं केवल वैदिक योग ही योग है उसको वो लोग या तो जानते नहीं या जानते हैं तो उसको लोगों को सिखाते नहीं अब देखिए कुछ परिभाषाएं चलती हैं वो कहते हैं योग नाम है जोड़ का आपने सीखा है कभी दो एकन दो और दो धुनी तो गणित में दो और दो को मिला दो तो चार का जोड़ हो गया तीन पांच को मिला दो तो पंद्रह का जोड़ हो गया गणित में अंकों को मिलाने से जो संख्या बनती है वो योग कहलाता है हो गया अब चलिए दो व्यक्ति दूर देश से गांव से नगर से चल के आते हैं वो आपस में मिले हाथ मिलाए और कहेंगे आपका मेरा तो योग हो गया मिलन हो गया वो ये कहते हैं हमने ये लेंटर डाला बजरपुर रेती सीमेंट इतनी मात्रा में ये उन सबको मिला दिया ये योग हो गया नहीं हुआ क्या योग हो गया तीन चार चीजों का और ईश्वर ने परमाणुओं को पकड़ के है जी आंख नाक कान शरीर सूर्य चंद्र वनस्पति सोना चांदी उन परमाणुओं का योग करके सृष्टि बना दी ये क्या हो गया परमाणुओं का योग हो गया ये घड़ी ने क्या किया ये इतने पुर्जे इतने यहां इतना ये स्प्रिंग इतना जोड़ के योग हो गया समझ में आ गई बात योग शब्द के प्रयोग ऐसे चलते हैं लोक में और दर्शन की जो योग शब्द आया है यहां व्याकरण की दृष्टि से हम पाणिनीय व्याकरण को देखें तो तीन धातुओं से योग शब्द बनेगा युजुरी योगी युद्ध सम्मेलने और युद्ध समाधो तीन धातुओं से बनता है पर आपने जानना क्या है जोड़ना आयुर्वेद में नुस्खे का नाम योग है लोन भास्कर इतने नमक से बना दिया वो योग हो गया आयुर्वेद में चवन चमन उस देव से चीज बना दी वो चमन बन गया वो योग कहलाएगा अब यहां योग दर्शन में एक योग क्या है योग समाधि ही आप क्या समझे यहां योग दर्शन में जोर शब्द से योग को नहीं कहा जाता केवल मेल शब्द से योग का प्रयोग नहीं होता अपने दर्शन की परिभाषाएं होती है इस दर्शन की परिभाषा जो है योग चित्तवृत्ति निरोध है चित्तवृत्ति निरोध को योग कहते हैं चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं अब प्रश्न उठेगा कि चित्तवृत्ति निरोध क्या चीज है वो समाधि उसी को हम फिर समाधि कहते हैं तो समाधि का नाम योग फिर प्रश्न उठेगा कि वो अवस्था क्या है वो स्थिति क्या है जिसको आप योग कहते हैं समझ माई बात अर्थात योग आरंभ होने पर व्यक्ति की क्या स्थिति होती है तो इन्होंने कहा वृत्ति निरोध का नाम योग है और वृत्ति निरोध दो प्रकार का है हां जी क्या समझे आप वृत्ति निरोध का नाम योग है और वृत्ति निरोध दो प्रकार का है अर्थात मुख्य रूपेण योग के स्तर की दृष्टि से पहला स्तर दूसरा स्तर इस दृष्टि से दो विभाग बना दिए अब ये वृत्ति निरोध दो विभागों में बटा हुआ है एक का नाम है संप्रज्ञात और दूसरे का नाम है असंप्रज्ञात तो योग जो है वृत्ति निरोध जो है वो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात संप्रज्ञात योग और असंप्रज्ञात योग संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि सबीज समाधि और निर्बीज समाधि ये योग दर्शन की भाषा में प्रयोग होते रहेंगे तो वृत्ति निरोध के दो विभाग हैं ये जो है जो व्यक्ति साधना करता हुआ यम नियमों का पालन करता हुआ अपने ज्ञान कर्म उपासना को ऊंचा उठा करके चित्त पर इतना अधिकार कर लेता है कि वो आधा घंटा पौन घंटा पूर्ण अधिकार करके चित्त के ऊपर और किसी कल्याण के लिए एक विषय में लगा लेता और बीच में कोई बाधा कोई वृत्ति उठने नहीं देता ऐसी स्त्री पैदा करता है एक मोटा सा दृष्टांत देता हूं आपको समझ में आएगा एक व्यक्ति ने अपने चित्र को इतना रोका इतना रोका कि आकाश मार्ग से जाता हुआ विमान लड़ाका विमान युद्ध का विमान उसको गिराने के लिए उसने पूरा शिक्षण प्राप्त किया है पहले तो बहुत शिक्षण प्राप्त किया उससे पहले ऐसे निशाना नहीं मार सकता आप ही जानते पंद्रह वर्ष लगाएगा दस वर्ष लगाएगा तब वो ऐसी स्थिति में आएगा अब उसको डालने के लिए गिराने के लिए वो कितना एकाग्रता होता है सांस आना भी बंद हो जाएगा उस समय उसका एक प्रकार से तब जाकर के उसको निशाना मार के विमान को गिराएगा वो एक लौकिक दृष्टांत है ऐसे ही उसने एक विषय को लिया ओम को ले लिया ओम सर्वरक्षक इसको ले लिया उसने ध्यान करने वाले ने और ओम सर्वरक्षक का पाठ करता गया वो अधिकार पूर्वक ओम सर्वरक्षक पर जमा रहा उसको कोई विचार उखाड़ नहीं सका बाहर से बीच में कोई वृत्ति नहीं उठने दी अब एक दूसरा दृष्टान देता हूं उसने एकाग्र किया अपने चित्त को और ये जानना चाहा क्या शरीर ही मैं हूं क्या या मैं आत्मा हूं इसके लिए लग गया हूं शरीर ही हूं क्या मैं या मैं शरीर से अलग तत्व हूं इसमें लग गया हूं विषय केवल यही रहेगा उसका इसी में वो आधा घंटा पौन घंटा एक घंटा लगा रहता दूसरे विषय को बिल्कुल नहीं उठने देता ये वृत्ति निरोध संप्रज्ञात प्रारंभिक अवस्थाओं में सब विषयों में लगता रहेगा कुछ समझ में आया नहीं आया बोलो नहीं आया हो तो पूछो नहीं आया समझ में या कुछ आता है यदि और मोटा दृष्टांत लेना हो तो आपने कोई परीक्षा देनी है और परीक्षा के पांच दस प्रश्न आपके दिमाग में उनको कंठस्थ कर लेना है और अध्यापक ने कहा कि पंद्रह में से आएंगे मुख्य प्रश्न यही है पुस्तक के पंद्रह याद हो गए तो आप उत्तीर्ण हो जाएंगे पर आज सारे दिन भर या एक सप्ताह तक इसको छोड़ के दूसरी चीज नहीं सोचना दिमाग से वो अध्यापक ने नियम बना दिया कल्पना कीजिए कोई आप से परीक्षा देने वाला जब बैठता है वो एक घंटा दूसरे विषय को न छेड़ता है ना छूने देता है ना उठने देता है और एक ही विषय को ले लेता है एक को पार करेगा वो तो ये उसका पूर्व रूप है संप्रज्ञात का प्रारंभिक स्थिति होती है फिर ऊंची होती है फिर ऊंची होती है ऊंची होती है ऊंची होती चली जाती है संप्रज्ञात में इन चीजों को वो जानता हुआ आगे बढ़ता जाता है अब संप्रज्ञात समाधि संप्रज्ञात योग के पश्चात इसी योग की स्थिति ऊंची असंप्रज्ञात ये लौकिक पदार्थ शरीर आत्मा इस संसार को उसने अच्छी तरह जाना और अधिकार कर लिया चित्त के ऊपर कर लिया अब क्या करता है अब उस व्यक्ति का जो लक्ष्य है ईश्वर को साक्षात्कार करना संप्रज्ञात समाधि को छोड़ देगा और असंप्रज्ञात को अपनाएगा वो उसमें कोई विषय नहीं रहेंगे ये ईश्वर ही विषय रहेगा उसमें ईश्वर का साक्षात्कार करेगा वो अंतिम जो असंप्रज्ञात समाधि है तो ये संप्रज्ञात योग और असंप्रज्ञात योग दो मुख्य इसके विभाग हैं तो संप्रज्ञात के योग को समझ लिया जावे फिर असंप्रज्ञात योग को समझा जावे इसलिए ये परिभाषा दिमाग में रखी जाए इन्हीं के ऊपर सारी की सारी ये बातें सिखाई जाएंगी और आप सीखते जाएंगे अब इसको यहीं पर विराम दिया जाता है